खुद ही मर जाते बेचारे सारी प्रॉपर्टी अर्पण करने की प्रार्थना की फिर भी वो जिला नहीं सके एक घंटा ज्यादा एक श्वास भी अधिक हम नहीं ले सकते आयुष्य पूरी होती तो हो मानुष्य देही नाम क्षण भंग सिकंदर को यात्रा करते पीड़ा हुई हकीम लुकमान डॉक्टर साथ में ही चलते थे बोले मैं अपने वतन पहुंचू ऐसा थोड़ा कर दो मैं सारा संपत्ति दे देता हूं तुम सभी डॉक्टरों को बोले अब वतन तो सौ मील है आप दो मील भी नहीं पहुंच सकते आगे मर गया बेचारा दुर्लभ हो मानुष्य देव देह नाम क्षण भंगुर है सारी कोशिशें करने के बाद भी मृत्यु आए तो एक क्षण ज्यादा नहीं जी सकते तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम भगवान के प्रिय संतों का दर्शन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है मनुष्य जन्म दुर्लभ है लेकिन क्षण भंगुर और उस समय भी संतों का संग मिलना बहुत दुर्लभ है भागवत में मनुष्य जीवन की बारह उपलब्धियां बताई तो बारह उपलब्धियों का फल यह कि मनुष्य सदा के लिए सब दुखों से सब कष्टों से छूट जाए और परम पद को पाए जिस पद को पाने के बाद उसका पतन नहीं होता राष्ट्रपति हो जाते फिर भी बेचारे रिटायर हो जाते मर जाते पतन हो जाता है प्रधानमंत्री बन जाते इंद्र बन जाते बड़े से बड़े पद पे छूते फिर देखो तो कीड़े बन गए क्रिकेट बन गए सांप बन गए क्या हुआ पदम अव्यय तत् निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंदैर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यय तत् जो मूढ़ नहीं हुए हैं अमूढ़ है वो अव्यय पद को पाते हैं जहाँ से फिर पतन नहीं होता न सब पुनरावर्तते फिर पुनरागमन नहीं होता माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता बड़े राजा बनेंगे तो भी रानी के गर्भ में तो जाना पड़ेगा राजा की इंद्री से तो गंदगी से तो पसार होना पड़ेगा क्या हो गया फिर राजकुमार हुए राजा हुए फिर भी मरना पड़ेगा सब छोड़ना पड़ेगा आखिर वही झक मारने रहे ना इसीलिए अव्यय पद की इच्छा करना चाहिए अव्यय पद व्यपद अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यंती सर्वरोगाणी सत्यम सत्यम वदामी अव्य पद के जो व्याख्या है उसका चिंतन करने से भी आदमी निरोग हो जाता है ऐसा अव्य पद है तो अव्य पद पाने के लिए बारह बातें बताई भागवत में पहला संतों का संग दूसरा भगवान की कथा सत्संग तीसरा भगवत सुमरण नाम जप चौथा इंद्रिय संयम दृढ़ निश्चय मुझे अव्य पद पाना है मुझे सुख दुख में सम रहना है नश्वर शरीर होते हुए मुझे जो नाश नहीं होता अपना आपा उसको जानना है ये इरादा करें बचपन नाश हो गया उसको जानने वाला तो हो ना अभी आप आप अविनाशी हो लेकिन विनाशी शरीर को मैं मान के परेशानी ढो रहे हो आप नित्य हो लेकिन अति अनित्य दुख सुख को सच्चा मानकर उलझ रहे हो आप शाश्वत हो लेकिन नश्वर की इच्छा वासना चिंतन में अपने को खपा रहे हो वास्तव में अव्यय पद आपसे अलग भी नहीं है दूर भी नहीं है दुर्लभ भी नहीं है परे भी नहीं है पराया भी नहीं है अव्यय पद तो अपना आपा है लेकिन उसको पाए बिना सारा गुड़ गोबर हो जाता है फूलीबाई नाम की एक लड़की थी शरीर स्वास्थ्य सौंदर्य अच्छा था राजस्थान में आमिट के पास अपना आश्रम उसके पास छोटे से गांव में उसकी शादी हुई सुथार लड़का था बाल विवाह होता था जुआनी हुई हुई शादी हुई और पति मर गया खूब रोवे खूब रोवे अब मरे हुए के लिए रोके क्या करे कोई संत पास संत के पास ले गए उसके पिता कि बाबा ये छोरी तो विधवा हो गई अभी अभी शादी की और पति के लिए रो रही है संत ने कहा क्या रोती है जगत पति तेरे साथ है लीबाई तो फूल जैसे हो इतनी कोमल कन्या रो रही है पति पति करके अपना यौन नाश हो रहे कर रही जगत पति तेरा अंतर्यामी परमात्मा तेरे साथ है थोड़ा उपदेश दिया थोड़ा मंत्र वंत्र दिया साधना मत दो लग गई उसमें मरने वाले के लिए जो मर रही थी अब अमर के लिए कभी नींद आवे तो जरा मिर्ची डाल देना आंख में वन वे ट्रैफिक ऐसे करते करते परमात्मा तो जानते हैं कि ये मेरे लिए रोती है या मेरे लिए भजन करती किसी के द्वारा प्रेरणा हुई कि उदयपुर का राणा चतुर सिंह राजा था फिर भी संत के चरणों में जाके उसने आत्मज्ञान पा लिया था अमर पद पा लिया था राजा चतुर सिंह के शरण जा ऐसी प्रेरणा मिली राजा चतुर सिंह के चरणों में गई उन्होंने तो सत्संग सुना के भाई को ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर मोह कभी ना ठग सके पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान फूली औरत से बनी फूली माता धाम बस जय दयाल गोविंदा भाई जी उनके दर्शन करने गए कहा तो एक सुथार के लिए रो रो के सिर पटक रही थी सात रुपया रोज कमाने वाला था उस जमाने में सात रुपया भी आज का सौ होता होगा उसके लिए रो रहे थे और फिर गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद फौजदार भाई जी उसके दर्शन करने फूली भाई जोधपुर का राजा उनके चरणों में मत्था टेकने जाता था बस अवय पद की लग गई तो बस कहाँ पहुंच जाए उसने कहा माता जी राजपाट में बहुत कुछ है लेकिन मेरी रानियां आपस में एक दूसरे की चुगली लड़ाई झगड़ा करती बड़ा कला है बड़ा दुखी हूँ आप रनवास में चलो जहाँ रानियां रहती ना उसको रनवास बोलते हाँ ना करते आखे माने माता जी ने हाँ बोला तो ऊंचा घाघरा थिगड़ा लगा चुनरी जैसी थी ऐसे वो चल पड़ी उसको फैशन की क्या जरूरत है आत्मसुख पा लिया तो ऐसी भाई रनवास में आई तो रानियां देख के हंस पड़ी कि ये कौन सा मॉडल आया आप समझ गए कपड़े ऐसे वैसे जैसे भी पहनती थी स्कर्ट कट स्कर्ट जैसा घाघरा होता है पूरा पैरों तक नहीं जाता घुटने के थोड़ा नीचे बस ऐसा घाघरा पहनने वाली जो भी जाति के होंगे जैसे भी होंगे कुल मिला के उसका वेशभूषा सादा सुदा देख के रानी आस पड़ी गई कौन आ गया फिर पता चला के राजा साहब तो इनके आगे घुटने टेकते उन्होंने व्यवस्था कराई तो माता जी माता जी माता जी ने कहा अभी तुम सज धज रही हो गहने गांठे कर रही हो जो तुम नहीं हो उसी को तुम सजा रही हो मूर्ख हो तुम रानियों को सुना ऐसे वैसे लाली ये वो जो भी कुछ श्रृंगार करते ये तो शरीर की शोभा है तुम्हारी शोभा नहीं है तुम्हारी शोभा तो अंतरात्मा परमात्मा के रस में परमात्मा के ज्ञान में आप बोलना फुलीबाई ने उनको पक्का करा दिया गहनो गांठो तनरी शोभा गहनो गांठो तन काया काचो भांडो भांडा कहते हो मिट्टी के बर्तन को काया ऐसी है मिट्टी का बर्तन तो साल भर अलीगढ़ के गोदाम से बाहर निकल सकता है लेकिन ये शरीर साल भर के बाद अलीगढ़ में होगा कि कहाँ होगा पता नहीं अभी जो अलीगढ़ में रह रहे हैं कुम्हार के घड़े अलीगढ़ के गोदान में रख दो तो अगले साल मिलेंगे लेकिन अभी जो ब्रह्मा जी के घड़े हैं वो अगले साल उसमें से हजारों हजारों गायब हो जाएंगे क्या ख्याल है, है? हाँ? मिट्टी के घड़े तो मिल सकते गोदाम से लेकिन ये ब्रह्मा जी के जो घड़े बने हैं काया उसमें से कई आज भी कई मर गए होंगे अलीगढ़ में दिल्ली में कई मरे होंगे तो अनित्य शरीर है मौत की तरफ जा रहा है अनित्यानी शरीराणी वैभवो नहीं व शाश्वत संपदा शाश्वत नहीं नित्य सन्निहित तो मृत्यु मौत रोज नजीक आ रही आयुष्य खा रही कर्तव्य धर्म संग्रह कर्तव्य है धर्म लाभ कर लो भगवान की प्रीति भक्ति भगवान के देवी कार्य करके अपना कुछ पुण्य अर्जित कर लो नहीं तो फिर सांप बनोगे केचुआ बनोगे <laughs> भैंसा बनोगे कहा सुनवाई होगी तो फूली भाई ने उनको उपदेश दिया गहनो गांठो तनरी शोभा काया काचो भांडो फूली बाई उसका नाम था फूली कहे थे राम भजो लड़ो क्यों हो रांडो रानियों को जाके रनवास में रांडे क्यों लड़ रही हो समय खराब कर रही हो गहने गांठे करके मरने वाले शरीर को सजा रही हो और लड़ रही हो भगवान का भजन करो कुछ अपनी कमाई करो नहीं तो बुरा हाल होगा फिर कुत्तियां बनोगी आपस में लड़ोगी कुत्ते कुत्तियां जैसे लड़ लड़ के मरते रहते गहनो गांठो तन री शोभा काया काचो भांडो फूली कहे थे राम भजो लड़ो क्यों हो रांडो रनवास में रानियों को रांडे बोल के उपदेश देके चल पड़ी कहा तो एक सुथार के लिए रो रही थी मेरा पति देव मेरा परमात्मा चला गया उस समय वो भी रांड थी क्या रो रही है रांड <laughs> गया तो गया अब काय को रो रही है रांड चुप रहे नहीं मैं नहीं जीऊंगी मर खोई बने बने मैं थारा बिना में खटे रे थाली और हर पिता को सूजी अक्कल और संत के पास ले गए अब उस रोने वाली फूली को पता ही नहीं कि बापू एकांत में होंगे तो भी तेरी सराहना करेंगे जो भगवान को चाहता है सचमुच भगवान अमर है तो उसका सुख उसका ज्ञान उसका यश अमर कर देते हैं जो अमर को चाहता है वो अमर हो जाता है और जो मरने वाले शरीर को और मरने वाले धन को चाहता है वो बार बार मरता ही रहता है न शरीर साथ टिकता है न धन साथ टिकता है इसलिए अमर ईश्वर को चाहे बिना घाटा ही घाटा है ईश्वर को अमर ईश्वर को चाहो अमर ईश्वर दूर नहीं दुर्लभ नहीं परे नहीं पराया नहीं अरे बोले बाबा ईश्वर तो सब बनाता है अपन तो कुछ नहीं कर सकते अरे तुम ही ईश्वर हो बेटे तुम भी रोज कितने बैक्टीरिया बनाते कितना खून बनाते कितना कफ बनाते कितना वायु बनाते कितना क्या क्या होता है शरीर में ईश्वर सर्व जो ईश्वर तुम तुम्हारे से ईश्वर अलग होगा तो वो ईश्वर व्यापक नहीं होगा तो तो नश्वर है तुम्हारे सहित ईश्वर है तो तुम्हारा आत्मा ईश्वर अभी भी है उसको ईश्वर रूप में मान लो जान लो निहाल हो जाओ शरीर को एक साधन मान लो शरीर को मैं मानने की गलती मत करो ये तो साधन है तो छूट जाएगा टूट जाएगा बिखर जाएगा फिर भी जो रहता है वो मैं चैतन्य हूँ उसको जानो उसको पाओ उसी की प्रीति उसी का सुमरण उसी के आनंद में मस्त रहो वो आनंद स्वरूप है हे राम जी जब तक अकृत्रिम आनंद नहीं आए तब तक प्रयत्न पूर्वक विषय विकारों से बच के उस आत्मा की उपासना करो ये तो आप लोग आते हैं बैठे हैं तो आ जाती दया था नहीं तो मेरे को फुर्सत ही नहीं उस आनंद से बाहर आके बोलू कोई जरूरत ही नहीं होती तुम ईश्वर में रहते तो सारी दुनिया का बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा पांच मिनट परमात्मा के स्वभाव में ध्यान में रहना बड़ा उद्योग है बड़ा परम पद है नारायण हरि हरि ओम हरी जो सत्संग देता है दिलाता है सत्संग देने दिलाने में साझीदार होता है वो अपनी सात सात पीढ़ियां तार लेता है बाकी के लोग तो जो सत्संग नहीं मिलेगा तो कुसंग करेगा जो भगवत रस नहीं मिलेगा तो फिर विकारों के रस में पान मसाले के रस में अहंकार के रस में बर्बाद तो होना ही है पानी ऊपर नहीं चढ़ा मोटर बंद कर दी तो ऊपर चढ़ा हुआ पानी नीचे आएगा क्या ख्याल है जितना टंकी में आ गया आ गया बाकी का फिर धीरे धीरे ध्यान वजन साधन करके मन बुद्धि को ऊपर चढ़ा दिया गुरुत्वाकर्षण के पार कर दिया तब बस नहीं तो फिर नीचे गिरता है वो कैसी है वो कैसा है वो कैसा है नाक में नीट भरी है मुंह में थूक भरी है कैसी भी है कैसा भी है उसी के पीछे आकर्षित होकर मारे मारे घूम रहे वो मेरी प्यारी है वो मेरा प्यारा है जल गई हड्डियां देखो तो रो रहे थे मारो आदमी की ओर आदमी की ओर समय में तो लगन किया कुछ नहीं देखा संसार का माँ बोलती के भगवान सूर्य को एक दो बेटा हो जाता फिर विधवा होती है रान ऐसी शादी करके विधवा हो गई ये भगवान थे का ही करो वो भगवान को कोस रही है लेकिन भगवान ने कृपा करके संतों का संग कर दिया तो अय हाय वो कईयों के आंसू पहुंचने वाली माता जी हो गई फूली बाई कईयों को अमर जीवन का राह दिखाने वाली हो गई एक सात रुपया कमाने वाले सुथार की औरत युवती विधवा कहा तो मरने के रास्ते जा रही थी कहा सत्संग मिल गया तो अपने आत्मा के वैभव का पता चल गया तो कहाँ कहाँ पहुंच गई नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम ओम ओम ओम परमात्मने नमः ओम ओम हरि हरिओम हरि में प्राण रहे मेरी प्रीति की डोरी तेरे तरफ सुरखती रहे कृपा करके हमारी प्रेम की डोरी संभाले रखना अभी कच्चा धागा है संसार अपने तरफ खींचता है विकार अपने तरफ खींचते हैं भगवान अपने तरफ खींचते भगवान तुम्हारी विजय हो भगवान तुम्हारी जय हो गुरु जी अपने तरफ खींचते गुरु और भगवान हमें अपने तरफ खींचते काम अपने तरफ खींचता है क्रोध लोभ मोह अपने तरफ खींच रहा है लोभ अपने तरफ खींच रहा है एक हाथ तो संसार में एक हाथ तुम्हारे तरफ है तुम्हारी विजय हो तुम्हारी जय हो भगवान गुरुदेव तुम्हारी जय हो ये मेरे को सताने को ले जा रहे मैं भी उनके साथ देता हूँ आप मेरे को इनको दोनों सबको बस भगवान प्रार्थना करूंगा भगवान तो दयालु है लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उन्हीं पर विशेष दया आ जाती है सूर्य तो वैसे ही प्रकाश देता है बिलोरी काज पर विशेष आ जाता अपना पुरुषार्थ भगवान का बल अपना पुरुषार्थ अपना बल तो थक जाते हैं भगवान का बल मिलता था है टोटा नहीं मंत्री ने कहा सम्राट जो मैं मुझे बोलने में दुख हो रहा है वो मुझे भूलना पड़ता है मुझे पीड़ा है बोलना नहीं चाहता हूं फिर भी बोले बिना पीड़ा मिटती नहीं क्या बात है आपका सुपुत्र जो महेंद्र है वो प्रजा की क्या क्या संकोच न करो बोलो प्रजा के उत्पीड़न करने वाले लोगों के संग में उनको ही सहयोग करता है प्रजा उत्पीड़ित होती है जो उत्पीड़न करते हैं प्रजा का उसी टुकड़ी का वो मोहरा बन गया है अब मैं क्या क्या बताऊं थोड़ा कुछ बताया आंखें लाल हो गई महेंद्र को ले आओ कठघरे में खड़ा कर दो महेंद्र प्रजा का उत्पीड़न करने वाले लोगों को तुम छुड़ाते हो पुलिस से प्रजा का उत्पीड़न करने वाले लोगों के साथ तुम्हारी उठ बैठ है प्रजा का उत्पीड़न देश द्रोह का अपराध है और देशद्रोही को क्या सजा होती है महेंद्र सुन लो मृत्यु दंड अपने बेटे को सुना दिया बेटे ने सिर उठाया मैं सम्राट अशोक का पुत्र के नाते नहीं लेकिन सत्य प्रिय न्याय प्रिय राजा का नागरिक के नाते प्रार्थना करता हूं कि मेरा अपराध जो कुछ सुनाया गया सत्य है मुझे फांसी कबूल है लेकिन सात दिन की मोहलत के बाद राजा साहब प्रजा के एक व्यक्ति को सात दिन की मोहलत के बाद फांसी दे ऐसा होगा जाओ अंधेरी कोठरी में डाल दो सत्य प्रिय राजा का बेटा अंधेरी कोठरी में सातवें दिन मृत्यु आने वाली है देखो मनुष्य के अंदर कैसी शक्तियां हैं छठा दिन हुआ है खिड़की से सूर्य का प्रकाश आया लेकिन सूर्य को प्रकाशित करने वाले आत्मा का प्रकाश से खिलखिला के जेलर को दूसरों को बोला मैंने मृत्यु पर विजय पा ली है मेरी मृत्यु होनी नहीं है हो नहीं सकती जिसकी मृत्यु होती है वो देह है और मैं देह नहीं हूँ मैंने कहीं सत्संग सुना और एकांत में मनन किया मुझे अपने आप का पता चल गया है सम्राट को जाकर <laughs> कह दो कि सातवा दिन पूरा न भी हो पहले भी विदाई करोगे तो धन्यवाद मैंने अपना काम बना लिया ओम मुख्यमंत्री बुद्धिमान विद्वान आए और देखा कि ये तो बुद्ध पुरुष हो गया अंधेरी कोठरी में ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गया सम्राट अशोक को कहा तो अशोक ने भी सत्संग सुना था वो तो ऊंची सूझबूझ के धनी थे अशोक भी गदगद हो गया दूसरे दिन फांसी के समय के पहले तुम्हारी फांसी के बदले में तुम्हें तोहफा दिया जाता है सम्राट अशोक तुम्हें राज तिलक करना चाहते हैं पुत्र तुम अब ठीक सूझबूझ के धनी हो गए प्रजा तुम्हारे से सुख पाएगी शांति पाएगी तुम्हें ये राज्य तिलक का तोहफा उसी समय दिया जाएगा जिस समय फांसी का जो समय निर्धारित किया वो राज्य अभिषेक होगा सम्राट एक नागरिक के नाते फिर से प्रार्थना करता हूं कि राज्य आपके चरणों में ही रहे अब मुझे इस राज्य से गुजारा नहीं होगा मेरा व्यापक राज्य है सूरज के आगे चंदा के आगे अनंत ब्रह्मांडों के आगे जो चिदघन चैतन्य वो मैं हूं मेरा इस राज्य से गुजारा नहीं होगा ये शरीर अब रहेगा एकांत में तीर्थों में गिरी गुफाओं में आत्म विश्रांति पाएंगे और दूसरों को उस रास्ते ले जाएंगे हमें राजसी सुख और राजसी सत्ता नहीं चाहिए हमें आत्म सुख और आत्म सत्ता प्राप्त हो गई है जिसे संभाल संभाल के भी मरना पड़ता है ऐसा राज्य अब मुझे नहीं चाहिए जिसे संभालने के लिए कोई श्रम नहीं है और संभला संभला है जो विश्व को संभालता है वो विश्वेश्वर मेरा अपना आपा है नम्रता पूर्वक आपके राज्य अभिषेक का मैं त्याग करता हूं आंखों में पानी आ गया नहीं लिया तो नहीं लिया राज वो विचरण करते रहा भिक्षुक साधु बन के आज तो छोटी छोटी कुर्सी के लिए लड़ मरते हैं और कुर्सी हर पांच साल में मरती है कुर्सी का नेता हर पांच साल में फिर से नया जन्म लेता है बेचारा उसके लिए भी बेचारे सिर पटकते रहते हैं पूरा राज्य मिल रहा था नहीं चाहिए समय खराब होगा उसमें तू तू में, मैं की लेन देन में हम्म, एकांत में कहीं सत्संग किया कहीं कुछ किया इस देश के बाहर भी लंका श्रीलंका चीन आदि तिब्बत आदि में कई उसके सत्संगी बने कईयों को सार जीवन बता दिया कई सौभाग्यशाली उसके देवी कार्य में भी जुड़े अशोक का राज्य तो अपनी सीमा में था और उस बेटे का राज्य सिंह महेंद्र का जो अपराधी था अपराधी वास्तविक उसका स्वरूप नहीं है अपराध आगंतुक है वास्तविक स्वरूप निरपराध नारायण है हमारा अपराध हमारा स्वरूप नहीं है अपराध आता है फिर भी अंदर निरपराध तत्व तो मौजूद है जो कोसता है कि यार गलत हुआ भले फायदा हुआ लेकिन काम तो गलत है कामी कामिनी को मिलता है बहुत मजा आया लेकिन बाद में सोचता है यार गलत काम है मेरे से गलत काम होते हैं गलत काम को अस्वीकार करने वाला कौन है <laughs> वही गलत से रहित है दिल भर देवता मौजूद है हर गलत काम को अपनी तराजू में तोलकर ठुकरा देता है लेकिन वासना से फिर से गलत करते हैं फिर से करते लेकिन आखिर अंदर से कहराता है मन मरते समय भी गलत काम से आदमी का हृदय पीड़ित होता है क्योंकि बुद्धि सत्य के पक्ष में है सत्य स्वरूप ईश्वर के पक्ष में इंद्रिया विकारों के पक्ष में है मन इंद्रियों के पक्ष में बुद्धि कमजोर है तो मन को घसीट के ले जाती अगर बुद्धि भगवान के ध्यान जप में दृढ़ निश्चय में संयम में हो तो मन बुद्धि के अनुकूल और बुद्धि इंद्रियों मन के अनुकूल जीवन उर्दगामी होता है ये युद्ध चलता रहता है एक तरफ इंद्रियां खींचती है मन को दूसरे तरफ बुद्धि उसको रोकती है लेकिन बुद्धि में दृढ़ निश्चय नहीं है संयम नहीं है तो बुद्धि फिर इरादा मन के अनुकूल करके मरती है फिर बुद्धि को नालत पड़ती है नालत बुद्धि को पड़ती है वो तो देवता की कृपा है विवेक की जब भी अंदर से गलत काम किया है और नालत पड़ रही तो देवता की कृपा है हे देव तुम्हारी विजय हो हे प्रभु तुम्हारी विजय हो <laughs> वासना का पराभव हो अहंकार का पराभव हे परमात्मा तुम्हारा विजय हो शराबी शराबी बनाना चाहता है तो परमात्मा तो हमें परमात्मा रूप में देखना चाहता परमात्मा का एक नाम गुरु भी है गुरु माना जो लघु नहीं लघु विकार है गुरु निर्विकार है गुरु के शरीर में तो विकार देखेंगे बचपन आया चला गया वो भी तो विकार है क्रोध आया काम आया लोभ आया विकार तो शरीर में है गुरु तत्व में विकार नहीं है भगवत तत्व में विकार नहीं है जीव तत्व में विकार नहीं है विकार सब प्रकृति में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार इन आठ में विकार है अग्नि तत्व से क्रोध विकार होता है वायु तत्व से काम विकार होता है कफ तत्व से मोह विकार होता है ये ये मोह हुआ तो कफ की प्रधानता है काम क्रोध हुआ तो अग्नि का विकार है विकार अष्टधा प्रकृति में मेरा निर्विकार नारायण जो कहते हैं उसी की सत्ता से विकार पैदा होते पनपते मिटते वो जो कहते हैं जो जो कहते हैं वो मेरे आत्मदेव है ओम ओम कभी भी निराश नहीं होना चाहिए ईश्वर के रास्ते चलने में निराश नहीं होना चाहिए महेंद्र जैसा क्रिमिनल व्यक्ति आठ दिन में ईश्वर प्राप्ति कर सकता है और राज्य को ठुकरा सकता इतना विरक्त गुनाह करके छुप रहा था मंत्री ने फरियाद कर दी तो मृत्यु दंड हुआ लेकिन फिर अकेले में सत्संग का मनन किया तो आए ब्रह्मज्ञानी हो गया कितना कितना जंप है पत्नी इतनी प्यारी लगती थी तो बारिश में मुर्दे को कुछ लक्कड़ समझ के नदी पार किया बारिश में बिल में पानी घुस गया तो अजगर ऊपर लटक रहा था उसको रस्सा समझ के कूद के खिड़की में औरत के बिस्तर पर जा पहुंचा हे कोनो कोन में तुलसी अभी कैसे आए अरे प्रिय तूने तो रस्सा बांध रखा मैं खिड़की कूद के आया लालटेन की लोग है कि खिड़की है कि तो अजगर लटका था फिर कहा से अब यही नदी से पार करके देखा तो तो मुर्दा फूल गया था होए होए अंधेरे में मुर्दे को भी हार समझ के ले आए वो सांप हाड मास के शरीर में हाड मास की देह ममा तामे इतनी प्रीति या ते आधी कितनी आधी प्रेम जी है क्या प्रेम जी हंसता है सब बोलता हूँ यहाँ ते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे थी बोले फिर से एक बार बोलते दे एक बार बोल दिया गए तो गए संत तुलसीदास बन गए और घर घर रामायण उनका पूजा जाता है कितने ही थे ऐसा तो तुमने भी नहीं किया होगा ऐसा वो कर चुके थे फिर भी लग गया तो महापुरुष भी तो बन गए मुर्दे को जीवन दान भी तो देने वाले हो गए ओम ओम तो जीव का वास्तविक स्वरूप बहुत ऊंचा बहुत शुद्ध बहुत शाश्वत है जैसे थोड़ा सा पानी और नींबू का रस मिश्रित करके शरीर को चमड़े को रगड़ने से चमड़ा मुलायम हो जाता है चेहरा शरीर ये सब त्वचा मुलायम हो जाती ऐसे परमात्मा का चिंतन और सत्कर्म से हृदय मुलायम हो जाता है नींबू पानी रगड़ने से त्वचा मुलायम हो जाती कभी कभी स्नान के पहले ऐसे ओम शांति ओम आनंद सत्संग से हम स्वयं मुलायम हो जाते नहीं होते बापू का निशाना कैसा है नींबू पानी ये सब एक साथ में काम हो गया इलाज भी हो गया और भक्ति भी होगी जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में हरिओम हरि चलो जी हम जाओ अलीगढ़ वाले हैं अभी तो राइट करते रहो थोड़ा साल भर और इतने साल किए तो एक साल और कर लो क्या है क्या पता अगले साल होंगे कौन नहीं होंगे <laughs> पता नहीं कितने बेचारे चले जाएंगे सत्संग तो जीवन का परम टॉनिक परम रसायन रसायन टॉनिक टॉनिक नहीं रसायन नेहरू ने पुस्तक लिखी भारत की खोज उसमें नेहरू ने लिख दिया कि अकबर के जमाने में एक बड़े महान कवि हो गए संत तुलसीदास जी महाराज विनोबा भावे ने पढ़ा नेहरू को खत लिखा कि आपने क्या बोल लिख दिया है अकबर के जमाने में तुलसीदास जी हुए अकबर तो आया चला गया राजे आए चले गए कौन जानता है शबरी के जमाने में कौन से राजा थे अभी पता नहीं शबरी थी शबरी का जमाना अभी भी चल रहा है उस जमा राजा तो जमाना तो भगवान के रास्ते जाने वाले संतों का रहता है राजे तो कई आते मिट जाते तो तुलसीदास के जमाने में अकबर हुआ ऐसा लिखना चाहिए था और हाँ, तुमने लिख दिया अकबर के जमाने में तुलसीदास हुए जमाना राम का भी चल रहा है तुलसीदास का चल रहा है उसके बीच कितने राजे आ गए तो गए ना सब तो जमाना तो उन्हीं का रहेगा आपने लिखने में जल्दबाजी कर दी अकबर के जमाने में तुलसीदास हुए नहीं तुलसीदास के जमाने में राजा अकबर हुआ ऐसे ही बापू के जमाने में ऐसे ऐसे राजा आया ऐसे ऐसा है ऐसा होगा <laughs> इतिहास हाँ? रामकृष्ण के जमाने में कौन से राजा थे पता नहीं रामकृष्ण का जमाना अभी भी चल रहा है क्या ख्याल है रामकृष्ण जब थे उस समय कौन से मुंह राजा थे पता नहीं कौन से वायसरा थे कौन से क्या थे मर मिट गए रामकृष्ण भी है जमाना तो ब्रह्म का और ब्रह्म के जानने वाले महापुरुषों का ही रहता है चंदा भी देखा तारे भी देखे देखा सूरज बरसों जब से हमने अलीगढ़ को देखा मल में फूली सरसों ऐसा गाओ फिर अलीगढ़ में हाँ? हम्म अलीगढ़ का ऐसे ही गाना बनेगा कुछ नया अब तो दिन रहे नहीं सात तारीख आठ तारीख उड़ीसा वाले बेचारे बैठे तारीख लेके ही जाएंगे भगवान की प्रीति भगवान का सुमरण भगवान के निमित्त दूसरे से मिलो बस काम के निमित्त क्रोध के निमित्त लोभ के निमित्त अहंकार के निमित्त मिलेंगे तो गिरेंगे भगवान के निमित्त मिलेंगे तो बस भगवान के निमित्त भगवान के निमित्त चाहे जूते उठाने पड़े जूते खाने पड़े अरे जूते में खाना पड़े तो भी खा लो कहीं भंडारा हो रहा था कहा पता है भक्तमाल के रचियता नाभाजी महाराज ने साधु संत जो भी आए भोजन करे खीर मालपुआ आई काली रोटी धोली दाल काली रोटी सफेद दाल मतलब मालपुआ और खीर तो सारे संतों का लंबा लंबा भंडारा था सारे सारे सारे को कुल्लर में खीर देते थे और पत्तल में मालपुआ देते अब महाराज भंडारे में आमंत्रण दिया नाभाजी महाराज तो तुलसीदास ने कहा तो अपन भी चले नाभाजी भी बड़े संत हैं अपन भी जाए उनके भंडारे में दर्शन हो जाएगा संतों का तो थोड़ा देर से गए तो आखिरी में बैठ गए और पत्तले बट गई कुल्लर बट गए ये भाई साहब लेट पहुंचे मालपुए मालपुए तो उन्होंने हाथ में ले लिए खीर खीर खीर तो जूता पड़ा था बोले इसमें डाल दो अरे बोले कैसा साधु है कुल्लर नहीं मिला क्या बोले नहीं मिला तो कोई बात नहीं ये भी कुल्लर ही है संत की जुत्ती है ना डाल दो भैया वो मारने वाले ने जाकर नाभाजी महाराज को कहा कि एक आदमी ना हमने ऐसा बोला तो उसने कहा झंझा कटरा मुझ ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम ऐसा कुछ चौपाई बोल दी थी तो ये मेरे को भी याद नहीं है हाँ तुलसी जा मुख धोखे निक से राम जिसके मुंह से धोखे से भी राम निकल आता है तागे पग की पग तरी मेरे तन को चाम धोखे से भी जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाता है उसकी तो मेरा मेरा चमड़ा <laughs> से उनकी जुती बन जाए तो मेरा भाग्य है ये तो उनकी जुत्ती है तो नाभाजी दौड़ते आके ये तो तुलसीदास अरे बाबा आप है कैसे चरण पकड़ लिए बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं बोले लेट आया तो मैं यही बैठ गया अरे महाराज तुलसीदास स्वयं आ गए आ गए कैसी नम्रता कबीर जी की कैसी नम्रता कबीरा कुत्ता राम का कबीरा कुत्ता राम का ये अलीगढ़ वाले पक्का करो तो फिर तुम्हारी तारीख का कुछ सोच सकते हैं चलो ये खाली इतनी साखी कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम गले नाम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं तू तू करे तो बावरा हुड़दुत करे हट जाऊं जो देवे सो खाई लू जा राखे रह जाऊं अब मेरे को पता ही नहीं था कि मैं अट्ठाईस तारीख रात को इधर रहूंगा सच बोलता हूँ सत्ताईस का श्राद्ध करके अट्ठाईस को ओडिशा चले जाएंगे क्या करेंगे टिकट कराए में क्या भी ठहरो जो अंदर की प्रेरणा होगी उज्जैन में करें पुष्कर में करें दिल्ली में करें सूरत में करें पूनम कहाँ करें मैं चलो देखते देखते तो कल आ गया कि भाई चलो कल ही हम ऐसे ओडिशा का भी आता नहीं तो टिकट हाँ ही नहीं बोल रहा हूँ यही बैठे हैं जैसी तेरी मर्जी गले नाम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं बस तेरी मर्जी भगवान की जो मर्जी होती है वहां शरीर को ले जाते अब ये सरकारी माल है ब्रह्म सरकार का माल है लावारिश माल सरकार का होता है जब अहम हट गया तो फिर शरीर में से मैं हट गया तो सरकारी माल हो गया लावारिश माल सरकारी का बिना अहम का हृदय भगवान का हृदय हो जाता है कोई पता नहीं कब कहाँ जाना है जो बुलवा लेता है वहाँ सफलता ही करवा लेता उसकी मौज अब बोलो अलीगढ़ वाले खड़े होके देखो कितने मार्क मिलते हैं कबीरा बोलो तो अरे बोलो ना कबीरा कुत्तो राम है ये लोग बोलते हैं अभी क्लास चलने दो पक्का करो ये मासिक है फिर छह मासिक पेपर होगा फिर बारह मासिक तैयार करो बैठो हाँ, ये तो आजकल ऐसे ही देंगे तारीख दो चार साखियां पक्की करा के ये मासिक पेपर जरा पच्चीस मार्क का है छह मासिक बारह मासिक का मौका है अभी कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम ये याद रखना हो ना तो जीव तालू में लगा दो तो याद रह जाएगा और मन में बोलो मैं बोलूं और तुम मन में बोलो तो सेव हो जाएगा जैसे मोबाइल में सेव करते ना ऐसे खोपड़ी में सेव होता है जीव तालू में लगाने से कबीरा राम का अपन बोले संत के नाम तो बहुत पाप लगे लेकिन उनकी वाणी हम दोहराते खाली <laughs> उनकी उदारता और नम्रता हमारे हृदय में वास करे इस भावना से हम थोड़ी उनको बोल दें वो स्वयं बोले हमारा अहंकार मिटाने का मार्गदर्शन दिया उन्होंने कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम नाम भी रख लिया गले नाम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं तू तू करे तो बावरा हुरधुत करे तो हट जाऊं जो देवे सो खाए लू जो रोखे रह जाऊं जहाँ रखे में रह जाता शरीर है महाराज आपकी मर्जी पूर्ण हो देव बस आपकी प्रीति आपकी भक्ति और आपका देवी कार्य विकारी संसार के लिए तो मर गए बस आपका कार्य करा के आपके शरीर को सफल बना दो महाराज हम्म। कैसे पसंद कर लिया तुम्हारे से आश्रम बनाने का काम भगवान ने कराया तुम्हारी क्या ताकत है, है। हाँ, तो हमको अपना सेवा दे के हमारा जीवन सफल करा रहे हो अब तुम्हारी मर्जी महाराज अब आगे भी आप ही करो गले नाम की जेवरी जित खींचो तित जाऊं <laughs> जहाँ खींचो वहां चलता हूं तू तू करे तो मावरा तो मैं तो खुश हो जाता हूँ हट जब तुम्हें चुप बैठूंगा जो देवे सो खाए लू जहां राखो रह जाऊं अभी हरिद्वार में रखोगे तो हरिद्वार में रह जाएंगे अलीगढ़ में भगाओ तो अलीगढ़ जाएंगे जैसे तेरी मर्जी <laughs> इसमें मौज मारो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी डाल दो बाहर भगवान खुश हो जाएंगे बोले आज ये हमारे से बिछड़ा जीव हमारे से मिलना चाहता फिर वो स्वयं मिलने का सारा वो <laughs> माल सामान व्यवस्था स्वयं करते जैसे बच्चा माँ बाप को बोलता है माँ भैया पापा अब मैं आप बिना नहीं रहता हूँ अच्छा बेटा देखो मैं तेरी टिकट करवा रहा हूँ <laughs> कौन सी गाड़ी में आएगा मैं गाड़ी भेजता हूँ मैं खुद ही आ जाऊंगा बाप जाता बेटे को लेने को <laughs> ऐसे वो बापों का बाप है हे बाप की तो गाड़ी पंचर हो जाए उस बाप की गाड़ी को पंचर ही नहीं होती पापा मैं हॉस्टल में रह के थक गया हूँ अब मैं तो घर आना चाहता हूँ पंद्रह दिन की छुट्टी है बेटा तेरी माँ भी रो रही है तो पापा फिर मैं आपने पैसे भेजे थे ना वो मेरे खर्च अच्छा कोई बात नहीं मैं टिकट करा लेता हूँ भेज देता हूँ टिकट और पैसे फलाने से ले लेना मैं दे दूंगा डाक भेज देता हूँ ऐसा कर देता हूँ सारी व्यवस्था करता है बाप हो या माँ हो उसको पता चले कि बेटा हमारे बिना तड़पता है सारी जिम्मेदारी उठा लेते वो तो चार दिन का बाप है अगले जन्म का नहीं है अभी का है तो इतना उठा लेता है तो वो तो सदियों का है हमारा <laughs> सदियों का सदियों का बाप माई सब प्रभु तुम तो सदियों सदियों से हमारे माई बाप हो इस शरीर को जन्म देने वाला बाप था उमल जैसे तो कई पैदा होके मर गए लेकिन वो बाप तो कभी मरता भी नहीं कहीं मिटता भी नहीं साथ छोड़ता भी नहीं तो सच्चा बाप तो अंतरात्मा परमात्मा है और दूसरा उसको पाए हुए महापुरुष है सच्चे माता पिता हम्म तुम्हें माता च पिता तुम्हें तमेव बंधु च सखा तमेव बंधु भी तुम ही हो सखा भी तुम राधे राधे રાધે સમજે છે હરિઓમ હરિઓમ કબીરા કુત્તા મોતિયા મેરા ગલે નામ કી જીત ખીંચે तू तू करे तो हुड़धुत करे तो जो देवे सो जा राखे बस अपनी पकड़ नहीं तेरी मर्जी साधक को ऐसा होना चाहिए ईश्वर के हवाले ईश्वर के हवाले हो जाए कहते विकार वासना सब छटती जाएगी ईश्वर में प्रीति बढ़ती जाएगी नहीं तो नीरसता मिट जाएंगी नीरस व्यक्ति को ही वासना सताती विकार सताते रसवान जीव व्यक्ति वासनाओं के बीच होते हुए भी निर्वासनिक और नीरस व्यक्ति अकेले में रहते हुए भी मन से वासनाओं में जाता है और जिसको आत्मा रस मिल गया वो वासना के माहौल में रहते कृष्ण देखो तो सोलह हजार एक सौ आठ होलसेल में फिर भी निर्वासनिक कैसी ऊंची उपलब्धि है ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा जैसे जल में कमल अलेपा ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई अब तो अलीगढ़ वालों का दर्शन वड भागी पावई करेंगे वहां ऐसे ही बोलना पड़ेगा अलीगढ़ वालों का दर्शन वड भागी पावई है हाँ? कैसा बोलो भी छह मासिक हुई है इसमें चालीस बयालीस तक आ गया है हेलो और बारह मासिक में छलांग मारना फिर सुबह देखा जाएगा हरिओम हरिओम हेलो हम्म सत्संग से जो शांति पुण्य मिलता है हम्म तारीख मिले न मिले इस बहाने सत्संग तो मिल गया तो भी घाटा नहीं है तो कैसे करेंगे अब तो